और कुछ दूसरे लोग जो अल्लाह ताला के हुक्म के लिए इंतज़ार में रखे गए हैं या वो उन्हें अजाब देगा वो उनकी तौबा कबूल करेगा और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला कमाल हिकमत वाला है